की अपनी महिमा भी तो कुछ होती है जैसे आप यहाँ है, है? हाँ, और जैसे आप मान लीजिए राष्ट्रपति भवन में आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं दोनों में फर्क है या नहीं यहाँ तो आप अपने आप जाएंगे अपने आप पानी लेंगे वहाँ तो उठना भी नहीं पड़ेगा खड़े रहेंगे चौबीस घंटे इशारा ही बहुत है कट से तैयार है चीजें फर्क है या नहीं स्थान की अपनी महिमा हुआ कि हुआ नहीं हुआ उस स्थान में जैसे गए उस स्थान का महिमा से वहाँ का स्थानीय का आपका अपना धर्म में परिवर्तन ना हो अब वहाँ पर ऐसे दो तीन पहन के बैठेंगे बैठे नहीं देंगे वो वो बढ़िया बना के लाएंगे फर्स्ट क्लास कपड़ा ला के देंगे कहेंगे हमारे राष्ट्रपति भवन की बेचती हो जाएगी तो ऐसे कपड़ा पहन के बैठोगे तो उसी तो अलग कपड़ा ला के आपको देंगे वो पहनाएंगे महाराज इसको पहनो जब तक यहाँ हो जैसे भगवान कृष्ण ने किया ना सुधार ला के साथ मेरी बेचती हो जाएगी तो कैसा मित्र है भाई है तो उसको उतरवा दिया और पुराना फटा धोती और बढ़िया चक्का चक दिया और दस दिन तक जब तक रहा खाओ पियो मौज करो कोई चीज की कमी नहीं थी मैंने दासिया सेवा कर रही अनेक चेड़े जो है मालिश कर रहे हैं क्या कमी थी जब जाने लगे तो वापस वही कपड़ा यही पहन के जाते स्थानीय कपड़ा धर्म है या नहीं है उस स्थान के संबंध होने मात्र से उस स्थानीय में एक विलक्षण धर्म आ जाता है यही स्वप्न जागृत बनता है स्वप्न अपनी हो निद्रा दोष युक्त जो अविद्या है ना उसकी अपनी महिमा है और निद्रा दोष रहित अविद्या की अपनी अलग महिमा है इसलिए स्थान धर्मो ही दृष्टान क्या रहेगा यथा स्वर्ग निवासी नाम स्वर्ग निवासी संकल्प करते हैं सब कुछ हो जाता है और यहाँ भूलो के निवासी कुछ नहीं होता वही जो भूलोक का वासी वही स्वर्ग में चला गया तो वह जाते ही वरुण को क्वालिटी से आगे वो सामर्थ्य हो गया इसलिए कहते ना जो बुद्धू से बुद्ध उसको जो शहर में छोड़ दे देखते उसकी बुद्धू बना कितनी होती है चार दिन के अंदर वो सबसे बड़ा चालाक हो जाए हाँ हम जब चारों तरफ से धक्का खाएगा धोखा खाएगा ठगेंगे लोग तो अपने आप उसकी खोपड़ी चलना चालू कर देते स्थानीय धर्म है ना शहर का धर्म उसमें लागू हो जाएगा वो छली कपड़ी ईमान बन जाएगा इसलिए कह जब महात्मा सेठों के यहाँ चला जाए तो सेठ ही हो जाएगा वो भैया क्या करेगा <laughs> तो सेठों के घरों में बैठ रहा है सेठों की रोटी खा रहा है तो हो आ गया तो सेठ जैसी बुद्धि हो जाएगी वो भी गणित गण लगाना शुरू करेगा अब अगला उत्सव कौन सा घोषित किया जाए ताकि और दो करोड़ आ जाएगा <laughs> तो यही सोचेगा और क्या करेगा ये सब बनिया सोचता है ना अब इस दिवाली में तो पंपर खोल दिया अगले दिवाली में क्या प्रोग्राम रखा जाए ताकि और ज्यादा पैसा आएगा सबसे खराब पुराना गला कपड़ा पुराने से पुराने सड़ा गला कपड़ा और घोषित कर देगा सौ प्रतिशत रेट पे बिक रहा है हंड्रेड परसेंट छूट दी जाएगी दो सौ रुपया के सौ रुपए बेचेगा और दस रुपए की चीज नहीं होती है बनिया <laughs> का काम नहीं है अब तुम भी ऐसे ही हो जाओगे और है क्या सौ रुपए की फ्री फंड में चढ़ाओ पुस्तक पांच सौ बेच और क्या चाहिए <laughs> यही तो बनिया बुद्धि तो आई गई ना कहा गई भक्तों ने फ्री में छपाया <laughs> है कि नहीं हो आपका कर्तव्य क्या था चलो फ्री में छपी है थोड़ा सस्ता भी दे दिया जाए भाई नहीं क्योंकि आप उसको देखभाल कर रहे हैं बिजली खर्च हो रहा है आपके एक विभाग खोल रखे हो उसको जरा रोटी पानी दे रहे हो सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है चलो वही खर्चा के नाम पे जो पचास रुपए पुस्तक बेच दो अपने ही वो पचास के सामने कर जीरो पे जोड़ दिया जाता है ये कौन सा न्याय है, है? तो दुनियापन आई गया ना कहा गया कारण है कि स्थानीय धर्म वही स्थानीय का धर्म क्यों तो नहीं इसलिए हमको तो रोटी ला के देने को तैयार बनी आप कहते भैया रहने तेरी पैर रोटी रहने रहने हमारे ठीक है जो यहाँ से आता आ रहा है उधर से सब्जी आ रहा है वो खा रहा हूँ वो ठीक है भिक्षा से आता वही चीज ठीक है तुम्हारे वहां से आया हुआ वो ज्यादा घी जो होता है खतरा है वो घी खराब कर देते खोपड़ी चाहे बुद्धि को मजबूत कर देता है और बैलेंस बुद्धि हो जाती है विवेक खत्म ये बहुत खतरनाक चीज इसलिए मैंने स्थानीय धर्म की महिमा जानना बहुत जरूरी है वेदांत में यदि आप मुक्ति चाहते हो तो स्थानीय धर्म समझो खेल जगत विद्यात्व के लिए नहीं साधना के लिए भी जरूरी है कहा बैठोगे किसकी रोटी खाओगे सब सोच समझ के लेना पड़ेगा नहीं तो साधना होगी नहीं कर तो। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन कहावत ही है स्थानीय धर्म का प्रभाव पड़ता है अपूर्वम स्थानीय धर्मो ही जैसे दृष्टान क्या है स्वर्ग निवासी इंद्राई देवताओं की साधन नेतृत्व पूर्व जो अवस्था आप सुनते हो वैसे स्वप्न की स्वप्न दृष्टा का भी एक अपूर्व धर्म है समझो तान अयम प्रेक्षते गत्ता या स्वप्न पदार्थों को स्वप्न में ही जा करके वैसे ही देखता है जैसे यथव यह सुशिक्षित जैसे यहाँ पर जो है मान लो आप कहीं जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं वहाँ क्या होता है कैसे होता है किसी जानकार से पूछा वो आदमी आपको समझा दिया सारी बात यहाँ से जाओ ऐसे जाओगे वहाँ ये मिलेगा उससे आगे जाओगे तो वो मिलेगा उससे आगे जाओ तो ये मिलेगा ऐसे ऐसे जाओ ये धर्मशाला है यहाँ इतना रुपया का है उधर जाओ तो ये होगा सब बता दिया और आपके दिमाग में सारा का सारा आप ले लिए और चल पड़े तो क्या होगा आप अब लक्ष्य को वैसे ही प्राप्त कर लेंगे कोई संशय नहीं उसी में यहाँ पर भी जागृत सुशिक्षित हो या सफर में चला गया यहाँ जैसे वहां भी रसगुल्ला खाने लग गया तो क्या करो मैं यहाँ जैसे एक अज्ञानी पुरुष है कि स्थान आदि का ज्ञान नहीं है उसको दूसरे से पूछा और उसने शिक्षा दी और शिक्षा पर जब चलता है तो वहां पर उसी प्रकार सफलता पूर्वक लक्ष्य को वो प्राप्त करता है इसे जागृत सुशिक्षित हुआ पुरुष स्वप्न में जाकर के जागृत समान पदार्थों को जैसा कहा गया था जैसा समझा गया था वैसे पदार्थों वहां देखता कि नहीं देखता यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है जागृत और स्वप्न का बीच लेकिन यही अंदर है वो वहां जाकर देखता है कहा स्वप्न में जाकर जैसे जो व्यक्ति यहाँ पूछा और उसको आपने बद्रात बता दिया तो उसको बद्रात यही दिखाई देगा क्या अरे वहां जाएगा तभी ना उसको देखेगा आप सारे वर्णन करेंगे ऐसे ऐसा है यहाँ पुल है अमुख है अमुख है सब बता दो हो जाएगा तो सब कुछ वहां रास्ते में जैसा आपने बताया वैसे मिलेगा वहां पर भी जो जो चीज हमने जैसे बताया वैसे ही मिलेगा लेकिन उसको वहां जाने पर मिलेगा वैसे नहीं इसी और स्वाप्र पदार्थ को जागृत में खोजने की कोशिश करो तो नहीं मिल सकता स्वप्न में जाने पर ही मिलेगा जागृत पदार्थों में स्वप्न में आप खोजने की चेष्टा करेंगे नहीं होगा स्वप्न से जागृत में आना ही पड़ेगा इसलिए कहते हैं कि देखो देशांतर मार्ग समझ सुशिक्षित पुरुष जैसे जाकर के अनुभव करता है उसी प्रकार से यह स्वप्न में जाकर के स्वापर पदार्थों को अनुभव करता है स्वप्न जागृत भेद समत्वात स्वप्न और जागृत के भेद समान है इसलिए जागृत भेदा नाम असत्य यदुक्तम तद असत इसलिए जागृत के भेदों में जो असत्य आपने कथन किया वो बिल्कुल उचित नहीं है ऐसे पूर्व पक्ष कहता है क्यों नहीं है भाई दृष्टान्त सिद्धता जो दृष्टान्त आपका स्वप्न है ना बिल्कुल अलग है दृष्टान्त सिद्धि कथम नहीं जागृत दृष्टा एवं एते वेदा स्वप्न दर्शन थे जो जागृत का दृष्टा है वही स्वप्न में जाकर के स्वप्न पदार्थों का अनुभव किया ऐसे हम नहीं मानते पूर्वक्षी किन्दरे फिर क्या मानते हो अपूर्वम ही स्वप्ने पश्यति चतुर्दंतम गजमारूढ़ अष्टभुजम आत्मा मन्य वो क्या किया स्वप्न में जाकर के अपूर्व दर्शन किया अपने आप को चार दांत वाला देखा और अपने आप को आठ भुजाओं वाला देखा अपने आप को हाथी पर सवार अनुभव कर रहा है अन्य भी एवं प्रकार अपूर्व पशती अन्य भी इस प्रकार के बहुत सारे अपूर्वों को स्वप्न में अनुभव कर रहा है अन्य न सदा समम सदैव इसलिए अन्य के साथ सदृश को लेकर असत करके आप कहना चाहें तो नहीं कह सकते अन्य में रज्जु भुजंगारी मरो मरीचिकारी के समान अपने कहा था ना वैसे ये असत नहीं है सदैव अतो दृष्टान तो असिद्ध इसलिए आपका स्वप्न रूप दृष्टांत असिद्ध इसलिए यहाँ हम देख रहे वैसे वहां अपने आपको नहीं देख रहे ना यहाँ तो दो हाथ दो पैर वाले साधारण थे और वहाँ चार हाथ आठ हाथ हो गया है? और चार दान दोगे यहाँ तो बत्तीस दान थे तो चार और हाथ निकल पड़े कहा बाहर बत्तीस तो भीतर होंगे ही बाहर चार और निकल पड़े है? अरे हाथी के नहीं अपना देख रहे चतुर्थ अरे सब प्रतिमांजित तो है ना अष्टभुजम सब अलग भी नहीं सकते आप चतुर्दंतम आत्मानम गजम आत्मानम और अष्टभुजम आत्मानम कभी सपने अपने आप को जो चार दांत दांत वाले बड़े राक्षसों का रूप अपने आप को देख सकता क्यों नहीं देख सकता और अपने आप को हाथी बन के देख रहा और अपने आप को भी आठ भुजा वाला हो जाएगा सबको अलग अलग भी जोड़ सकते सबके सब प्रतिमान चतुर्दंतम गजम आरूढ़ अष्टभुजम आत्मान इत्यादि है ना तो आप जैसे चाहे वैसे अन्वय कर लो कोई दिक्कत नहीं और कई बार तो ऐसे देखता है अपने आप को अलग हाथी को अलग हाथी पर बैठा हुआ अपने आप को देख लेगा गजारूढ़ होकर देखेगा कभी गज ही बन जाएगा कभी गजारूढ़ होकर देखेगा कैसा भी वो अनुभव कर सकते सुनिए स्वप्न में अनुभव करने का कोई आपका ठिकाना नहीं है क्या आप अनुभव करें लेकिन आधी क्या देखते जैसा यहाँ शरीर वैसे ही वहां शरीर बना लेते कभी कभी उल्टा सीधा अनुभव करके देख सकते हैं इसमें कोई संशय नहीं है और विशेषण विशेष भाव के द्वारा भी आप ग्रहण कर सकते चार दांतों वाले हाथी पर बैठ करके आठ भुजा वाला अपने आप को देखता है ऐसा भी नहीं तो जैसा भी हो क्योंकि स्वप्न में तो आप जैसे चाहे वैसे फिर जैसे चाहो वैसे देख सकते इसलिए कह दिया सर भाषिकार तो कहेंगे अरे तुम तो क्या ये कह रहे हो हम तो कहते पूर्व पक्षी का बात है ना हम तो कहेंगे हम अपने आप इंद्र जैसे देख लिया हजार हमको वाला देख लिया तुम तो चार दांत की बात कहते हो हम तो पूरे एक ध्यान रटे हुए हैं तो अपने आप को विराट रूप में देख लिया तो क्या करोगे वहां चार दान गया हजारों दान पेट में भी दान सबसे ज्यादा दान दान था ना वहां पर कहा नहीं सहस्र मुख भी है ना उसका सहस्र बात है तो दो चार की सवारी नहीं तो लाखों करोड़ों की दांतों की संख्या वहाँ जैसे चाहो वैसे देख सकते जैसे संस्कार या बनाओ और वहाँ मन याद करते करते उसी को देखते देखते स्मरण करते करते सो जाओ तो वही स्वप्न में आ जाएगा निर्भर है ना आप किस संस्कार को किस वासना को लेकर आप स्वप्न में जा रहे हैं उसके ऊपर सब निर्भर है इसलिए दृष्टांग है सुशिक्षित जैसे ही यहाँ शिक्षा दिया वहां जाकर वो देख लेता है तो जैसे जागृत में आप संस्कार बना लेते हो वासना बना लेते हो तद अनुरूप वहां पर स्वप्न में आप जाकर के देखोगे इसलिए आप कैसा भी अन्वय करें ग्रहण करो कोई आपत्ति नहीं अन्य इसलिए कह दिया इसी प्रकार अन्य भी बहुत सारे चीजों के एवं प्रकार अपूर्वम पश्यती स्वप्ने न अन्य न सता समम सदैव अतो दृष्टान्त सिद्ध तस्मात स्वप्न जागृत से असत्यमिति आयुक्त सिद्धांत नहीं नहीं स्वप्न दृष्ट पूर्व मन्य थे स्वप्न में जो अपूर्व देखा हो ऐसा आप मान रहे हो स्वतः सिद्धम वह स्वतः सिद्ध है कैसे क्यों स्वतः सिद्ध नहीं है तन्ना स्वतः सिद्ध वो स्वतः सिद्ध नहीं हो सकते है मन से न तो स्वतः सिद्ध वह स्वतः सिद्ध आएगा मत मानो किंतर ही अपूर्व स्थान धर्म ही वह स्थानी का एक अपूर्व धर्म है स्थानी कौन स्थानी मैंने दृष्टि स्वप्न स्थान जो दृष्टा जब स्वप्न स्थान वाला हो जाता है तब तो उसका अपना वह धर्म हो गया यथा स्वर्ग निवासी नाम इंद्रादी नाम सहस्राक्षतारी तथा स्वप्रदृशो पूर्वायम धर्म जैसे स्वर्ग निवासी इंद्रादियों का सहस्राक्षतादि धर्म आपने देखा सुना है जाना है समझा है भले ना देखे हो तो भी जानते तो है इस बात को ठीक उसी प्रकार स्वप्रदृष्टा का यह एक अपूर्व धर्म है समझो वो जैसे चाहे वैसा अनुभव कर लेता है वह देख लेता है न स्वतः सिद्धो दृष्ट स्वरूपवत इसलिए स्वतः सिद्ध नहीं है जैसे दृष्टा का स्वरूप स्वतः सिद्ध है वैसे वह चतुर्दंत गजादी जो है स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं होते यदैव यह सुशिक्षित देशांतर मार्ग तेन मार्ग देशांतर तान पदार्थान पश्यत जैसे श्लोक में देखो कोई शिक्षित पुरुष है देशांतर मार्ग के बारे में सम्यक प्रकार की शिक्षा उसको दिया गया है तो वो उस मार्ग से चल करके देशांतर को प्राप्त करेगा और वह पदार्थों को जैसे सुनाता वैसे ही देखता है ठीक उसी प्रकार तस्माद यथा स्थान धर्माणाम रज्जु सर्व मृग तृष्टिकादी नाम असत्यम तथा इस स्थानी का जो धर्म है रज्जु के जो धर्म आपने देखा था क्या सर्प मृग तृष्टिका आदि जैसे जैसे स्थान विभिन्न दृष्टान्तों में उसी प्रकार से यह असत्य आपने देखा उसे स्वप्न दृश्यों के जो अपूर्व धर्म आप देख रहे हो स्थानीय धर्मत्व एवं यदि असत्यम और स्थानीय में परिकल्पित धर्म होने के नाते वो असत है अतुल स्वप्न दृष्टान्त असिद्धम इस स्वप्न दृष्टान्त को आप असिद्ध नहीं कर सकते तान एवं प्रकरण अपूर्वान स्वचित्त विकल्पान एवं स्थानी स्वप्न प्रेक्षक है तान एवं प्रकरण जो स्वतः सिद्ध नहीं है ऐसे जो अपूर्व स्वचित के विकल्पात्मक पदार्थों को स्थानाभिमानी सब स्थानाभिमानी जो होता है आत्मा वह तेजस आत्मा स्वप्न दृष्टा स्वप्न स्थान को प्राप्त करके अनुभव करता है दृष्टान में कहा था जैसे इस लोक में एक सुशिक्षित व्यक्ति सम्यक प्रकार से उसको जानकारी दे दिया गया है कि देशांतर के मार्ग के बारे में वह उस देशांतर मार्ग के द्वारा देशांतर को प्राप्त करके तत्र जैसा वर्णित पदार्थ इन सकल पदार्थों का अनुभव करता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो स्थानीय के द्वारा परिकल्पित सगल धर्मों को रज्जु सर्म कृष्ण आदि के समान है जो अत्यंत सत्य मिथ्यापदा वस्तु उन स्वप्न दृश्यों को जो कि अपूर्व है वो क्योंकि विलक्षण है बाहर के समान दिखते तो है लेकिन वो भीतर है इसलिए कहते हैं वो अगले श्लोक और स्पष्ट होएगा तो स्वप्न दृश्य अपूर्व होने के बावजूद स्थानीय का धर्म ही, ही है जैसे असत्य रूप है मिथ्या रूप है इसलिए स्वप्न का दृष्टान जो दिया गया था वह सिद्ध नहीं है लेकिन जब आपने अपूर्व माना फर्क तो रह गया कि स्वप्न के सकल पदार्थ असत्य है लेकिन जागृत भी तो सत्य और असत्य भेजे ठीक है नहीं जागृत वैसा व्यवहार हो रहा है घटपटारी उनके साथ कटौते पटौते पटौती और कई चीजों का मसद कर व्यवहार कर रहे हैं जिसे रज्जो में सर्व देखा रजक देखा शुद्धि में इत्यादि और अत्यंत रसद पदार्थ भी यहाँ पर है अपुष्पादी इसलिए दो कोटि में मन को करते सत कोटि है असत कोटि लेकिन स्वप्न में था तो जो कुछ भी सब असत ही यदि आपने सिद्ध कर दिया तो ये विलक्षण कहा ना जागृत और स्वप्न में स्वप्न में सर्वम असत जागृत है सद सदस्य दुभयम भवती इसलिए जागृत को मिथ्या स्वप्न दृष्टान बनेगा नहीं जागृत को अपने मिथ्या दृश्यवाद स्वप्रवृत्ति दृष्टान दिया लेकिन दृष्टांत बनता नहीं कि स्वप्न में सर्वासत है और जागृत में सर्वासत नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है स्वप्नवृत्तावपित्तंतचेतसा सत बहिश्चेतो गृहीत सदृष्टम वैधत्यमेत स्वप्नवृत्तोपी तो सिद्धांत जवाब दी शक्का के ऊपर देखो स्वप्रवृत्ति में भी अपने चित्त के अंदर आप सत्य और असत दोनों कल्पना करते हैं चित सा कल्पित चित्त के द्वारा कल्पित है भले हम सर्वासत कह देते हैं लेकिन स्वप्न काल में वहां भी सर्वसत व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहिश्चेतो गृहितम वहां पर भी क्या होता है स्वप्न का अपना दृष्टा बना हुआ है वो अपना शरीर एक बना लिया और शरीर से बाहर जो कुछ उसको वहां पर भी सदरूपेण अनुभव करता है वहां भी शरीर है ना वहां भी घट पर देख रहा है एक स्वप्न काल में स्वप्न स्वाप्तिक शरीर के द्वारा जो अनुभव होता घटपट है उसको घटासत बोलेगा क्या उस काल में तो घटोस्ती ही बोलेगा ना जैसे जागृत में सद सद व्यवहार कर रहा है स्वप्न में भी अपने परिकल्पित वस्तुओं में कुछ को सत कुछ को असत रूपेण सद सद व्यवहार कर लेता है वहां भी रज्जु में सिर्फ देख लेगा स्वप्न में तो रज्जु असत है या नहीं स्वाप्निक रज्जु भी स्वप्न काल में सत्य है और स्वाप्निक सर्प स्वप्न काल में असत है और जागृति में आने के बाद स्वाप्ति रज्जु भी असत हो जाता है हाँ। कहीं स्वप्न काल में सत सत भेद व्यवहार तो है ही तथा जागृत काल में सत सत भेद व्यवहार है अतः जागृत की मिथ्यात्व के लिए स्वप्न का ससद व्यवहार आप तक स्वप्न का दृष्टान बनाने में कोई दोष नहीं इसलिए वही तथ्याम दृष्टान एक इसलिए इन दोनों का मिथ्यात्व स्पष्ट ही दृष्ट हो गया अपूर्वत्व आशंका निराकृत्य निरपक्ष ने कहा अत्यंत अपूर्व पदार्थ है वो कहते नहीं नहीं वो अपूर्व नहीं है कहानी का एक धर्म विशेष है स्थानीय का प्रभाव है वो स्वयं सब कुछ कल्पना कर ले सब सबको जैसे चाहे वैसे इतना ही अंतर है जागृत और स्वप्न में इसलिए अपूर्व अत्यंत अपूर्व है जागृत अत्यंत विलक्षण है भिन्न है ऐसा कोई कहना चाह रहा उस आशंका को पूर्व कार्यका से निराकरण कर दिया और अब स्वप्रष्टान से पुनः स्वप्र जागरूक जागृत भेदाना प्रपंच उसी स्वप्न दृष्टान्त में विद्यमान अपूर्वता संकान को निराकरण करने के बाद पुनः स्वप्न की समानता स्वप्न रूपी दृष्टान्त को लेकर के जागृत भेदों को जागृत भेदों का जो वास्तविक मिथ्यात्व को विचार करते हुए जब प्रपंचयन आह स्वप्रवृत्तावपी स्वप्न स्थाने भी अंत चेतसा मनोरथ संकल्प सत्य स्वप्रवृत्ति में जो स्थान स्वप्रवृत्तम में स्वप्न स्थान में स्वप्न काल में अंत सा अपने भीतर में ही चित्त के द्वारा मैं क्या किया मनोरथ संकल्प मनोरथ के द्वारा विभिन्न संकल्प करना उन सबको असत समझो क्यों अधर्म संकल्प अनंतरम स्वप्न समकाल में दर्शनार्थ संकल्प के अंदर ही संकल्प के स्वप्न के समकाल में ही अनुभव में नहीं आता तो बड़ा आश्चर्य है स्वप्न में मान लो एक दृश्य आपने देखा पहले उसके दूसरा दृश्य देखा फिर तीसरा देखा फिर चौथे में फिर वापस पहला को आप देखना चाहोगे ना स्वप्न में भी वो नहीं देख पा वो तो संकल्प वापस लौटता नहीं बहुत कोशिश करो अरे पहले भगवान का बड़ा ध्यान आया था अब कहा पीछे दूसरे दूसरे आगे हटाओ फिर वहां भगवान का ध्यान करने की चेष्टा करेंगे वहां नहीं दिखता हो स्वप्न ये क्योंकि संकल्प में था ना किंचित अभी सत्यता वास्तविक भी नहीं है वहां व्यवहारिक सत्यता भी नहीं है व्यावहारिक सत्यता में तो क्या होता है बार बार फिर आप अनुभव कर भी सकते हैं आप ब्रह्म ज्ञान पर्यंत लेकिन जो वहां पर व्यावहारिक सत्यता आपने कल्पना किया था स्वप्न में उस प्रथम दृश्य में वो व्यावहारिक सत्यता भी असत ही है अतएव दोबारा को संकल्प को उठाना चाहोगे तो भी वो होता नहीं है वही कहते स्वप्न के समकाल में ही संकल्प अनंतरम संकल्प के अनंतर एक संकल्प किया उसका अनुभव किया उसके अनंतर में स्वप्न कर में ही दोबारा उसका दर्शन करना चाहो तो भी वो नहीं होता तथय सपने बहिच्छेद सागृहितम चक्षुरादि द्वारे उपलब्धम घटादि सब दूसरी बात उस स्वप्न में भी अपने चित्त से बाहर चित्त से भीतर जो ग्रहण किया वो तो है ही और चित्त से बाहर भी वह ग्रहण कर लेते हो स्वाप्ति अपने आप से में भी एक अंदर भी एक बाहर तो जो स्वप्न में स्वप्न पुरुष ने अपने पास से बाहर करके मान लिया गड़बड़ादियों को उनको जो ग्रहण कर रहा है किसे स्वाप्तिक चक्षुरारी के द्वारा वो जो उपलब्ध घटा आदि को क्या मानेगा उस स्वप्न काल में सदित्यव सत्य बोलेगा एवं इसी प्रकार से उन्हीं चक्षुरारियों के द्वारा अपने चित्त से बाहर में रज्जु में जगह सर्व को असत करके भी बोलेगा इस स्वप्न में आप रज्जु को लेकर सर्व कर समझ के घबरा गए अगर स्वप्न में ही आपने रज्जु को देख लिया सर्व भ्रांति दूर हुई तब स्वप्न में ही उस सर्व को क्या मानेंगे उस स्वाप्निक रज्जु में दिखाई दिया गया स्वाप्निक सर्प को स्वप्न काल में ही आप असत भी मान लिया कि नहीं मान लिया जागृत में आए बिना ही वह सर्प असत हो जाता कि नहीं होता है उसको वहां उसी प्रयोग कहते हैं यहाँ पर भी समझो तो एवं असत्यम इसीलिए जैसे जागरूक में भी आप देख रहे हो चित्त के भीतर में मनोराज्य के द्वारा परिकल्पित अनेक वस्तु हम देखते रहते हैं और चित्त से बाहर में भी गर्भारी को सत रज सर्वादियों को असत करके अनुभव करते जैसे स्वप्न के में भी ऐसा ही होता है वह भी स्वप्न पुरुष है तो वह भी अपने चित्त के भीतर कई चीजों को कल्पना करके मनोरथ को संकल्पों को कल्पना करके देखता है और चित्त के बाहर में भी घट आदि को सत और रज सर्वादि को असत रूपेण वो भी व्यवहार कर लेता है यदि निश्चित सदस्य विभाग दृष्टा इस स्वप्न में भी सदस्य विभाग स्पष्टतया दृष्ट है उभयोर अपनी अंतर बहिश्चित कल्पितो हो इसलिए हम ये कहते हैं जैसे स्वप्न आप दे, देख रहे हो अंदर और बाहर जो कुछ भी है वो सब कल्पित है उसी प्रकार से जागृत के भी काल में जागृत अवस्था में भी जो अंदर और बाहर करके तुम समझ रहे हो ये भी सब कल्पित है वैतत्यम एवं दृष्टम जैसे वहां अंदर बाहर कल्पित सकल वस्तु वैसे करके दृष्ट है इसीलिए सदसत और वैदत्यम युक्तम में जागृत में भी सदसत जो अनुभव में हो रहा है वो वैदत्य युक्त ही सिद्ध हुआ अगले कार्य का दार्ष्टान्त घटाएंगे तो दृष्टान्त हुआ अब दार्ष्टान्त बुद्ध में घटाएंगे जागृत चेत सा कल्पित बहिश्चेतो गृहित सत् युक्तम वैधत्यमेतयो जागृत वृत्त अभी मैंने जागृत काल में भी आप चित्त के भीतर जो कल्पना करते हैं वो असत्य तो होता ही है आप बैठे बैठे मन के अंदर बहुत बड़ा महल बना लिया बहुत बड़ा घड़ा बनाए पानी बनाया लोग बोलते कि नहीं मानस पूजा में होता क्या है जितनी भी मानस पूजाएं हैं उन सभी के द्वारा करते क्या मन ही मन आपने रजत गिरी के समान कल्पना कर लिया सिंहासन कल्पना कर लिया उनके ऊपर उसको बिठा लिए हृदय के अंदर ही शिवलिंग बना लिया उसकी पूजा कर दी है सब बाहर कुछ भी नहीं नपा न लौटा रहा कुछ जो आपने चित्त के भीतर में कल्पना की वो सब क्या है असद है या नहीं भले ही वो संवादी असद है इन संवादी भ्रांति है उससे आपको वास्तविक शिव की अनुभूति हो सकता है है तो आखिरी में असत हो चाहे संवादी हो चाहे संवादी हो है वो इसे जागृत काल में भी चित्त के भीतर आप जो भी कल्पना करते हैं वो तो असत करके आप स्वयं मानते हैं जो तो बहुत कम होता है जो कि सत्संकल्प हो जाए एक भक्त की कहानी आता है तो राजा के साथ कहीं जा रहे थे वो बैलगाड़ी वो यहाँ गए थे राजा बैलगाड़ी बैठा हुआ कहीं गया था किसके साथ मित्रता किस में चला गई वो हांगते हांगते हंगते तो भूल गया समय आ गया भगवान उसका अपना पूजा पाठ का तो पूजा पाठ का समय आया तो करेगा मित्र और कहा तक देखेगा बैल कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा वहां करा बंद कर दिया और अपना बैठे बैठे आंख बंद करके अंदर भगवान की कल्पना करने लगा पूजा पाठ करने लगा आओ कल कहीं इधर उधर खेती में चलने लग गया और राजा घबरा गया क्या हो रहा है कहा जा रहा है अरे बड़ा मुश्किल से उसको जगाया तो वही समाज हो गया लेकिन हुआ क्या तमाशा वो खीर का भोग में लगा रहा था उस समय उसने जगा दिया अब वो खीर की थाली के साथ बाहर खड़ा है राजा ने देखे ये क्या हो गया हमने इसको जगह तो खीर की थाली कहाँ से आ गई इधर गरीब ब्राह्मण और सोने का थाली सफेद कटोरे सुखी हुए साथ यही कैसे बड़ा घबरा गया राजा ये क्या हो गया तमाशा फिर उससे पूछा भाई हमसे क्या अपराध हो गया आप तो बड़े विधवा पुरुष है तो खेल खेल के लेकर खड़े हैं न उसको राजा दिख रहा न कुछ दिख रहा होता तो अपना वो अभी चल ही रहा है उसका भले ही जगा लिया लेकिन वो हाथ में और वो भोग लगा रहे भगवान को वो अपना चल रहा है उसका सीरियल यानी बाहर में यथार्थ में हो गया ये भी उसको मालूम नहीं है वो अंदर ही कल्पना करता है चल रहा वैसे ही उसके साथ हो रहा है तो पूरा पूछा समापन हो गया उसके बाद पूरा होश में देख रही खड़ी ही रहे भगवान कहा चले होकर ध्यान आया उसको हाथ में खाली उसमें खीर फिर देखता है साथ में राजा क्या फिर धीरे से समृद्धि लाया तो समझ आ रहे हो भाई तो समय आ गया तो इसलिए पूजा का समय कारण से पूजा चालू कर दिया और उसमें इतना तल्लीन हो गया और वो लगाते लगता गड़बड़ा गया इसलिए खाड़ी बाहर आ गया जंगल कल्पना किया हुआ राजा से पूछा आपको आपने हमको जगाए हुए कितना समय बीत गया राजा ने बना कुल मिला करके पंद्रह मिनट हो गया तो उसने गणित लगाई भोग लगाने का समय से विदा करने का समय तक की भगवान को विदा कर कच्चा कच्चा बुरा हो हो ठीक उसी समय इसने मेरे को जगाया और इतनी इतना सब संकल्प पूजा का उसका वो यथार्थ कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी किसी सत्य साय बाबा तो कहते हैं कि हमेशा ही देते रहा संकल्प बात था नहीं घड़ी बनाया खट से हाथ करके घड़ी आ गया हाथ दे दिया ब्रह्मानंद महाराज करके देते थे पहले जो शंकराचार्य पद पर भी रहे जोशी मठ का आप जिस फूल का सुगंध कही वो फूल का सुगंध झट बना देते फूल ही बना देते आप जो फूल कहो वो फूल साफ उसका सुगंध नहीं कि मुरझा हुआ सूखा वाला कहीं से बिल्कुल ताजा जैसे सिद्ध पुरुष लोग हुए सत्संकल्प पुरुष जैसा अंदर कल्पना किया वो वैसे ही बाहर प्रकट हो गया ब्रह्मा जी के समान ब्रह्मा जी तो यही है क्या वो अंदर उन्हें कल्पना कर दे पूर्व सारा बाहर हो गया इसलिए कहते हैं कि देखो अंदर में जो कल असद होता ही है सभी के अनुभव सिद्ध है बहिश्चेतो गृहितम सत अचेतो बही यदि गृहितम तत्सत इसे और चित से बाहर जो हम ग्रहण करे जा रहे थे उसका सदुपण व्यवहार कर रहता हूँ इसलिए उत्तम ये तत्यम ये भी जो सदसत है ये दोनों के दोनों भी स्वापिक सदसत के समान मिथ्या ये से निश्चय कर लो अंतर वही क्षेत्र कल्पित अविशेषा जैसे स्वप्न में अंतर और बही चेतक के अंत अचेतक बही आपने कल्पना किया वैसे यहाँ पर भी है कोई फर्क नहीं दोनों समान है व्याख्यात मन्य अन्य शब्दों का अर्थ व्याख्यान हो चुका है स्पष्ट है सर्व मिथ्यात्व आप कह दिया इसका अंदर मतलब जागृति मिथ्या खबर मिथ्या तो बड़ा कमाल है खबर मिथ्या क्यों जब जागृत में पता चला और वैसे स्वप्न दृष्टा है जागृत मिथ्या कर दिया फिर प्रमात्र प्रमाण व्यवहार खत्म हो गए उसको जाना कौन प्रमादिरे प्रमाण प्रमेय समस्त व्यवहार यदि मिथ्या है प्रमाता भी मिथ्या हो गया ना हाँ। तो पक्षी कैसा है ये जो आप कह रहे हो आप भी मिथ्या हो जाएंगे क्या प्रमाता है ना वो तो प्रमाता व्यवहार कोटि के अंदर है या नहीं त्रिपुटी व्यवहार जो हो रहा है प्रमाता हूँ मैं इस जगत को मिथ्या जान रहा हूँ और ये जगत रूपा प्रमेय क्या है मिथ्या है प्रमात्र प्रमाण प्रमेय जो व्यवहार है ये त्रिपुटी संपूर्ण एक व्यवहार कोटि के अंतर्गत होने से व्यवहार भी मिथ्या है तो प्रमाता मिथ्या हो जाएगा आज शून्य वाद स्थापित हो गया यानी बौद्ध ने पकड़ लिया इस जगह पर सकते हो भयोरअपि वे धत्यम भेदान और यदि कान दे भेदान वो वही तेषा विकल्पक कहता है देखो उभयोर में वही सत्यम अंतर वही सब कुछ भी मिथ्या ही है वेदानम उभयोस्थान वेदान उभयोस्थान बोले जागरूक सपने स्थान उभयोर भी वेदानम मैंने प्रमात्र प्रमाण व्यवहार जो प्रमेत्र जो भेद है ये संपूर्ण मिथ्या ही है यदि हाँ? क्या तो यही तो समस्या अनादिकालीन अविद्या के कारण से दिखते ही रहेगा अभी ब्रह्मानुभूति हुई नहीं ना सुन तो रहे हम ब्रह्मास्मि हाँ, हम लोग भी कहते हैं भाई तुम ब्रह्म हो कहते तो है फिर अनुभव कहा है यदि अनुभव होगा तो फिर आप बता देंगे स्वयं महाराज ये तो ठोस ही मिथ्या है स्वयं बोलो स्वयं कहेंगे आप आप जो पढ़ा रहे ये भी मिथ्या है मैं जो सुन रहा हूँ ये भी मिथ्या है सब मिथ्या है अनुभूति हुई नहीं जब तक तावत पर्यंत हम सत्य और आप सत्य है हम पढ़ा रहे और आप सुन रहे दोनों सत्य है खड़ा जाना कहा हो रहा है चित्त के बाहर हो रहा है ना चित्त के बाहर है या नहीं सत्य धर्म कहा है जागृत अनुसार है ना चित्त से बाहर है या नहीं ये सब मिथ्या है ये तो बाद में जब ब्रह्मानुभूति होगी अब तो थ्योरी समझो प्रैक्टिकल बाद में करते रहना पहले भी एक बार समझाया इस बात को तो इसलिए पूर्व पक्षी शंका कर रहा है जो सब कुछ मिथ्या है का एतान भेदान कौन है वो जो इन भेदों को अनुभव कर रहा है जान रहा है को वही तेषा विकल्प कौन इन सकल विकल्पनाओं को पैदा कर दिया कौन है जो इन विकल्पनाओं को पैदा कर रहा है और कौन इनको जान रहा है बताओ अर्थात कोई नहीं जान पाएगा जो सर्वम मिथ्या सर्वम के अंतर्गत आप भी है प्रमाता और जो प्रमाता भी जो मिथ्या हो गया तो जानने वाला ही नहीं रह गया तो इदम मिथ्या अहम सत्यम ये कैसे जाना आपने यह जानना भी मिथ्या ही हो जाएगा फिर यानी बड़ा सुंदर पूर्व पक्ष श्लोक पूरा कारिका पूरा पूर्व पक्ष की कारिका है यहाँ सिद्धांति नहीं बोल रहा है अगले बार में जवाब देगा अगली कारिका में जवाब क्या आएगा देखेंगे चौदह शंका करने वाला कहता है स्वप्न जागर स्थान और भेदानाम यदि वही सत्यम स्वप्न और जागृत इन दोनों स्थानों के भेदात्म के जगत यदि मिथ्या है कौन अंतर बहिष्ठेतो कल्पितान कल्पिदान चित्त के अंदर और चित्त के बाहर कल्पित इन वस्तुओं को कौन जान रहा है बताओ को वही दिशा विकल्प और कौन इन विकल्पों को किया है बताओ है कौन हो जो विकल्पों को विकल्पों का निर्माता है कल्पक मैंने निर्माता इन भेद का निर्माता कौन है हो तो भेद का निर्माण भी करे हम स्मृति ज्ञान का आरम्भ मिति अभिप्राय कहने का तात्पर्य है स्मृति हुई और ज्ञान इन बौद्धों के लिए कहना जरूरी है क्योंकि स्मृति और ज्ञान दोनों के एक अधिष्ठान मानना पड़ेगा और वो नहीं मानते ना जो क्षणिक विज्ञान लेके चलेंगे जो स्मृति करेगा वो अनुभव किया नहीं जिसने अनुभव किया वो स्मृति कर नहीं सकता जब क्षणिक विज्ञान का अर्थ तो जैसे समर्पण लेते यद्यपि बौद्धों का क्षणिक का लक्षण पढ़ेंगे तो अलग ही मामला हो जाएगा या नहीं बौद्धों का जो क्षणिक का लक्षण अलग है वो तो बहुत लंबा समय ही रहेगा सौ साल भी क्षण है उनके लिए लाख करोड़ अरब खरब साल भी क्षण के अंतर्गत आ जाएगा दृष्टि पर डिपेंड है किसके लिए कौन सा शिक्षण होता है जैसे की सौ साल अवसर बता दे देवताओं का एक दिन बराबर है आपका जो तीन सौ साठ दिन का जो एक साल है वह किसी के लिए एक दिन है उनका तीन सौ साठ दिन किसी के लिए एक दिन हो जाता है कि नहीं हो जाता है तो बात जब किसी तरह से क्षणिक को कहता है कि भाई क्षणिक को समझिए अच्छी तरह से कि कोई भी वस्तु है उसकी उत्पत्ति हेतु जो आप क्रियाकलाप करते हो वहां से आरंभ करके उसके विनाश पर्यंत के काल को एक क्षण मानता है शक्ति से विनाश तक को पूरा एक क्षण मानता है जैसे आपका शरीर का जन्म से लेकर मरण तक आपके लिए क्षण हुआ इसलिए सकल जागृत और जो आपकी स्मृति और ज्ञान का हो रहा है उसे क्षण में ही हो रहा है लेकिन खंडन करने वाले या ये हो सकता है शंकराचार्य के पूर्व काल तक क्षण का मतलब एक क्षण जिस सुप्रसिद्ध क्षण है उसी को लिया जाता था बाद में लोग वसुबंधु बहुत बाद में हुए हैं नवी बौद्ध है बुद्ध भगवान का ही पुनः अवतार मानते हैं लोग इसीलिए उनको वसुबंधु नामक व्यक्ति उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने क्षणिक का लक्षण बदल दिया है जो एक क्षणिक का लक्षण बताया ना ये वसुबंधु का देन है और वसुबंधु ने जैसे यहाँ आप कल्पना करते हैं ना फिर तेरे सगुन निराकार निर्गुण निराकार सगुन निराकार फिर सगुण साकार सूक्ष्म सगुण साकार स्थूल चतुष्कोटि उत्पत्ति समष्टि में और चतुष्कोटि उत्पत्ति व्यष्टि में अपमान उसी प्रकार वो भी अलग नाम देता है आप क्या कहते ब्रह्म ईश्वर हिरण्य गर्भ विराट तुरीय तेजस विश्व गए परिनिष्पन्न परिक्लिप्त अलग अलग नाम दे दिया वो भी चार भाग बांध एक तरह से वेदांत और बौद्ध को बिल्कुल बराबरी पर रख दिया और ऐसे लक्षण शून्य का बनाया और ऐसे लक्षण उसने जो है क्षणिक का बना दिया जिससे कि भाई वेदांत और बौद्ध के शब्दों की लड़ाई रह जाती है वास्तव में कोई अंतर आप ब्रह्म गए ऊपर निष्पन्न का दिया फर्क क्या पड़ा ना शब्दों की तो फर्क पड़ा तो जो स्वर्ग वो भी वही कह रहा निर्गुण निराकार वही बोल रहा विलक्षण में वसुबंधु ने बहुत जबरदस्त बौद्ध दर्शन में अंतर लाया है इसलिए वहां से नव्य बौद्ध कहा जाता है और आचार्य शंकर ने जो खंडन किया और तत्काल समकाल के लोग या तत्पूर्वर्ती लोगों ने जो खंडन किया बौद्ध का वो कुमार भट्ट के आधार पर है जो कुमार ने साक्षात बौद्धांश साकार करके खंडन किया वहाँ क्षणिक का किया था प्रस्तुत क्षण ही था उसे ज्ञापन होता है कि मैंने वसुबंधु रूपी आचार्य के पूर्व पर शंकराचार्य के पूर्व नहीं वसुबंधु आचार्य के पूर्व तक जितने भी समय रहा उसी में शंकराचार्य हुए और अन्य को आचार्य हुए हैं उन सभी समय में क्षणिक का अर्थ होता था सुप्रसिद्ध क्षण उसके अनुसार ये चलते हैं जो पूर्व क्षण में रहा है वो तक क्षण में रहेगा नहीं जो जिसने अनुभव किया वो आगे रहा ही नहीं तो स्मृति क्या करेगा और ये स्मृति कर रहा है उसे अनुभव ही नहीं किया तो कृत प्रणाश अकृत का रूपी दोष उनके मत पर आता है ये है वो अब उन्होंने जो है जो बहुत दर्शन में गड़बड़िया फैल गई थी उसको सुधारने के लिए अवतार है जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं काले महता नष्ट हो अब इस्लाम आ गया दोबारा अरे बुद्ध भी बसवंत बन गया आ गया तो क्या आपत्ति है आपको क्यों उसको मानते हो केवल कृष्ण का ठेका है क्या वही बार बार आ सकता है बुद्ध नहीं आ सकता है तो यही कट्टरता है हम लोगों की कमी यही है स्वीकार करते नहीं नहीं उनका नहीं हो सकता अरे उनके क्यों नहीं हो सकता वहां भी मान रहे वो भी होगा इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट लिखा है कुछ छपती भी है ईसाइयों में भी अवतारवाद है लेकिन नहीं है उनके यहाँ भी भगवान है भगवान के अवतार होते हैं आप देखिए सैकड़ों अवतारों की पुस्तक छपी है अनेकों रूपों में आए हुए भगवान के संतान के रूप यहाँ जन्म लेकर लीला करके ज्ञान देकर गए हैं कभी पढ़ना इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पुस्तक होगा या लाइब्रेरी में हर चीज में है कुरान भी है हिम्मत हम नहीं पढ़े हैं जैसा पढ़े हम किसी शास्त्र से या किसी धर्म से किसी दर्शन से हमारा कोई विरोध नहीं है विरोध तो मूर्खों में होते रहता है बोले तो अज्ञानियों का खेल है तो विचार करें कि सभी अभी वो आदम कह दिया आदम और आप मनो शत्रु का कहते हैं इन नामों का तो फर्क खेल चल रहा है ये शब्दों की लड़ाई को लेकर बिल्कुल दरार कर देते हैं जबरदस्त तो कारण उन लोगों का भी दोष है उनमें भी एक अज्ञानी हुआ और वो अज्ञानी का नहीं जो हिंदू को देखो काट दो तो कर दिया मुसलमान यही ईसाइयों का भी सेकंड कमांडमेंट पढ़ो तो बहुत खतरनाक चीज दस कमांडमेंट कहते हैं दस विशेष आज्ञा है दस में दूसरी तीसरी अत्यंत खतरनाक है जो ईशु कहता है वो नहीं मानता है उसको भगवान प्राप्त नहीं हो सकता है और उस आदमी को जीने के दर्द पर कोई अधिकार नहीं खत्म कर गलत है ना ये आदेश अमानवीय आदेश इसलिए हमारे कहीं है गीता में या कहीं नहीं मिला कि भगवान ही कभी नहीं कहता मेरा इस गीता को जो नहीं मानता उस गला काट दो का है कोई शास्त्र से हाँ सेकंड कमांडमेंट तो उसी की है इसलिए तो सारी लड़ाई है असली बात तो वहीं से ला करके इसलिए आजकल उसको निकालने की चेष्टा कर रहे हैं दिमाग खड़ा रखा है दस कमेंडमेंट को सुधारो बदलो उसके लिए कई बार उनका मीटिंग हो गया सारे आर्क बिशपों को बुला करके कई बार इसका विवाद खड़ा है और दूसरी बार कहीं पर जब बोलते हैं मैं भगवान हूँ और कहते नहीं भगवान का पुत्र हूँ इसमें भी लड़ाई हुई है इसीलिए विवाद आपको तो कई शब्द आ रही वहाँ पर लेकिन समंजस बिठाने के बराबर समंजस बिठाए यहाँ पर जैसे नहीं कभी गीता जी में देखो आप कई बार क्या भगवान अपने ब्रह्म की स्थिति में बोल रहा है कई बार सगुण सागर ईश्वर के विराट रूप में स्थित होकर बोल रहे मेरा इस ईश्वर रूप को प्राप्त करने वाला अब आ गया सगुण सागर तो बोल रहे हो निर्गुण का है वहां और कहीं पर यादव बन के बोल देते साधन बाल बाल बन के बोल रहे तो एक ही व्यक्ति के वचन की प्रकरण और प्रसंग को समझ करके अर्वय करना पड़ता है वहां भी अनुभव किया जा सकता है लेकिन अभी तक वहां पर कोई ऐसे विशेष अकल वाला नहीं आया जो समझा गया उसको ढंग से व्याख्या करके इसलिए वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं अभी तक तय नहीं हुआ इसी में कई विभाजन ईसाइयों में अब कम से कम आजकल बारह संप्रदाय अलग अलग हो चुके उनके चर्च के ऊपर सामने जो चिन्ह होता है ना उसको देखने से पता लग जाएगा कौन सा है कोई उसके ऊपर एक सिंहासन जैसे बना देते जैसे तिलकम में फर्क नहीं है क्या तिलकों कौन नहीं फर्क करते हैं कोई यहाँ तो से लगा देता है यहाँ तक कोई यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ ये गोल बना देता है कोई यहाँ नीचे गोल बना देता है तो वैरागियों में वैरागियों में अब देखेंगे वो पहचान लेते हैं